चौबीस मंत्र पूरा हो गया था बच्चे दुश्चरितम कायिकम पापम टीका में ही नाविरतो दुश्चरिता शरीर से होने वाले जो पाप कर्म निषिद्ध कर्म उससे जब तक उपरत नहीं हुआ तो वह ऐसे साधक ब्रह्म ज्ञान से इसको प्राप्त नहीं कर सकता है अर्थात उसको ब्रह्म ज्ञान होगा ही नहीं है और उससे जो विलक्षण है वो साक्षात्कार कर सकता है अर्थात तो अंत में कहा जो दुश्चरित्र से उपरत हो इंद्रिय चांचल्य से भी उपरत हो समाहित चित्त हो असमाधि फल की इच्छा नहीं करता है इसलिए उपशांत मन हो आचार्य से उपदेश करता है आचार्य के अधीन रह करके आचार्यवान प्रज्ञान है ना एनम अपने आत्म प्राप्त कर सकता है उससे भिन्न जो पहले कहा गया वो ब्रह्म ज्ञान से इसको प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान उसको नहीं हो सकता है यस्त्वनेवं भूत वो प्राप्त कर सकता है जो इस प्रकार नहीं है दुश्चरित्र से अविरत नहीं दुश्चरित्र से विरत हो गया वो प्राप्त कर सकता है यस्य ब्रह्म से क्षत्रं उभे भवत ओदन मृत्युर्यस्य उपसेचनम कैथा वेद यत्र सः यस्य परब्रह्म सर्व का आत्मा का ब्रह्म से क्षत्रं से उभय भवत होता ना ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जो ब्राह्मण धर्म उपदेश करने वाले धर्म में प्रवृत्त करने वाले कराने वाले और क्षत्रिय है ब्राह्मण यदि अपने नियम से हटे तो क्षत्रिय उसको राजा उसको शासन करता है पूरा धर्म की रक्षा करने के लिए राजा क्षत्रिय राजा वो धर्म की रक्षा करने के लिए ही है धर्म पूर्वक ही राज्य शासन करना होता है क्षत्रिय भी गुरुकुल वास करके वेदाध्ययन सब करने के बाद ब्राह्मण के समान है क्षत्रिय भी नियामक है राजा का ए राज्य का ब्राह्मण यदि धर्म त्याग करके प्रभुत्व होता है तो राजा उसका शासन करता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय ये धर्म धारण करने वाले श्रेष्ठ होने पर भी यस्य उभे भवतोदन मृत्यु उन दोनों को ही ग्रास कर लेती यमराज उसको ग्रास कर लेते हैं तो दोनों उसका उदन के समान भात के समान हो गया अब मृत्यु ऐसे उपस नहीं उभय भव तो यहाँ मृत्यु का नहीं परब्रह्म का परब्रह्म में लीन होते सब तो दोनों उदन के समान हो गए अब मृत्यु ऐसे उपसेचन मृत्यु जो यमराजे सर्वमारक सब को मानने वाले मृत्यु है सब का शासन करने वाले वह जिस परब्रह्म का उपसेचन के समान उपसेचन है चटनी भात में डाल करके मठा आदि डाल कर भात खा लेते हैं भात में थोड़ा कुछ मिलाकर जो खाते हैं वो खाद्य पेट भरने के लिए नहीं होता है पेट भरेगा तो भात खाने से उसमें थोड़ा मिलाकर कुछ खा ले खाने के लिए उपसेचन चटनी दाल ये मठा के समान हुआ यमराज इस प्रकार है अर्थात खाद्य के लिए भी पूरा नहीं है क इत्था वेद यत्र स स यत्र क इत्था इथा इत्थम के अर्थ में था हेतु च छंदसी प्रकार वचन थाल होता है तो था हेतु च छंदसी च से प्रकार और हेतु दोनों अर्थ में छंद में होता है इस प्रकार कौन जान सकता है यत्र स टीका में यस्तु अनैवम भूत उक्त साधन संपन्न न भवति पूर्व में जो साधन कहा दुश्चरित्र से उप, उपरत नहीं है अशांत है असमाहित है अशांत मानस है ये प्राप्त नहीं कर सकता है जिसके पास ये साधन नहीं है उक्त साधन संपन्न न भवति अर्थात अविरत नहीं है अशांत नहीं है असमाहित नहीं है और फल चाहने वाला नहीं है फल चाहने वाला हो तो प्राप्त नहीं कर सकता है अविरत नहीं होता तो दुश्चरित्र से उपरत हो गया और अब शांत नहीं शांत है समाहित है और फल इच्छा नहीं करता है उक्त साधन संपन्न न होती स कथम वेद वो कैसे जानता है इति संबंध स कथम वेद भाष्य में आया यस्त्वनेव भूत यस्य आत्मन ब्रह्म च क्षेत्रज ब्रह्म च क्षत्रम च यस्य यस्य जिसका प्रकरण है आत्मा है आत्मनो ब्रह्म से क्षत्रिय जहाँ ब्रह्म शब्द का तो ब्राह्मण ब्रह्म क्षत्रिय सर्वधर्म विधारक अपि सारे धर्म का धारण करने वाले इसलिए ब्राह्मण जाति क्षत्रिय दोनों सर्वधर्म विधारक होने पर भी सर्वत्राणुभूत उभे सब की रक्षा करने वाले क्योंकि धर्म से ही रक्षा होती है रक्षण जो कुछ प्राप्त होता है धर्म है कारण है धर्म से ही सब जगत की रक्षा अपनी रक्षा सब कुछ धर्म के बिना खाली रक्षा नहीं है धर्म हो तो रक्षण सब सर्वत्राण होता है धर्म धर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय भी सब की रक्षा करने वाले त्राण होते उभे उदन असन खाद्य हो जाता है भवत चाहता सर्वहरोपि मृत्युरस उपसेचन सर्वहरोपि सब को हरण करने वाला किसी को छोड़ने वाला नहीं यह महाराज तो सर्वहर सब को लेने पर भी अन्यत्र अधर्मादिति सर्वहरोपि मृत्युस्य उपसेचनम सब को ही समाप्त करने वाले मृत्यु यमराज जिसका उपसेचनम इव उपसेचन के जैसे ओदनस्य असनत्वेपि अपर्याप्तम ओदन का उपसेचन ओदन में सिंचने सिंच करके थोड़ा मटा आदि डाल कर खा लेते हैं धन्य कुछ हो दाल आदि हो उपसेचन उदन असनत्य पे अपर्याप्तम तो एकदम जो खाली खाद्य के लिए योग्य नहीं है पर्याप्त नहीं है दाल आए तो पीकर को रह जाएगा दाल आदि नहीं चटनी हो थोड़े पतला मठा हो ऐसे कुछ डाल कर खाते हैं नींबू नमक डाल करके तो ऐसे चटने पटने आदि जैसे उपसेचन खाद्य के लिए पर्याप्त नहीं है अर्थात यमराज जो सर्वर मृत्यु उसकी गिनती ही नहीं है तम प्राकृत बुद्धि यथोत साधन हित साधन प्राकृत बुद्धि प्रकृति से जात प्राकृत प्राकृत बुद्धि तो पशु पक्षी की है जिस मनुष्य के ऐसे बुद्धि है वो खाना पीना सोना ही मौज करना ही जानता है वो पशु पक्षी के बराबर है शास्त्र से संस्कार होता है बुद्धि में शास्त्र श्रवण करने पर सत्संग करने पर बुद्धि में शुद्धि संस्कृत होती बुद्धि है जब तक इसे शास्त्रीय बुद्धि नहीं तो प्राकृत बुद्धि प्रकृति से ऐसे स्वभाव तो बुद्धि स्वभाव तो है खाना पीना सो जानते हैं पशु पक्षी भी यथोत साधन नहीं तो साधन जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो साधन यदि नहीं है कोई था इत्थम एवं इस प्रकार जान सकता है यथोत साधन वानी वो यथोत साधन वानी वो ये साधन है जो उपरत है दुश्चरित से शांत है समाहित है समाधि फल नहीं चाहता वो साधन साधक प्राप्त कर सकता है ऐसा साधन जिसके पास नहीं यथोत साधनवान इव साधनवान साधन वाला जैसे जान सकता है साधन ही तो कौन जान सकता है साधन के बिना कोई नहीं जान सकता है ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रवण मनन निध्यासन अंतरंग साधना उसके पहले भी ये कुछ साधन है आदि साधन है यह दुश्चरित पाप कर्म से उपरत हो इंद्र को मन को जीते फल इच्छा रहित हो होकर के ये सब होने पर ही ज्ञान प्राप्त कर सकता अमानित अदम्बित आदि जितने साधन साधनवान जैसे प्राप्त कर सकता है साधन रहित प्रकृत बुद्धि वाला कौन जान सकता है कौन प्राप्त कर सकता है वेद का थे विज्ञानाति यत्र आत्मा वो कौन जान सकता है यत्र आत्मा आत्मा जहाँ है जिस रूप से है वो कौन है कौन जान सकता है साधन रहित तो? साधन संपन्न होने पर ही ज्ञान होगा ज्ञान की इच्छा ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन संपन्न होना ही चाहिए उसके बिना चल जाएगा ऐसा नहीं चलाने का नहीं अन्यत्र कहीं भी चलाने की भावना नहीं कर चल जाएगा नहीं जाने पर चल जाता है नहीं करने पर चल जाता है ये नहीं समझना करना है तो करना ही है अपना कर्तव्य क्यों नहीं करेंगे चलाने का नहीं ये अभ्यास करना पड़ता है लौकिक व्यवहार में भी जो ऐसे प्रमाद करता है उसके बिना चल जाएगा क्या हो जाता है तो परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसे अभ्यास सर्वत्र रहेगा ऐसे अभ्यास होगा ताकि नहीं पढ़ सकता है जो थोड़ा हाँ थोड़ा झूठ बोल दिया तो क्या हो गया ये भावना करने से आगे नहीं बढ़ सकता क्यों थोड़े झूठ बोलना क्यों ये करना है कर्तव्य हाँ, नहीं जाए तो चलिए आप सब लोग कर लेंगे सब लोग ही कर लेंगे क्यों तुम तो सब के अंतर्गत तुम क्यों नहीं करना करना है तो हम आगे चल कर करना है हम नहीं जाने पर चल जाएगा ऐसा नहीं अपने में उत्कर्ष आरोप करके किसी प्रकार उत्कर्ष आरोप करके अपने पीछे हट जाए सब लोग करने तो ऐसा नहीं उत्कर्ष तभी सोचो यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाए ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं हुआ तो उत्कर्ष क्या है अब ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर कोई अपने को उत्कर्ष उत्कृष्ट मानेगा उत्कृष्ट मानेगा बहुत में श्रेष्ठ होगा तो ब्रह्म ज्ञान होने पर बहुत देखेगा क्या अपने से भिन्न कोई है किससे उत्कृष्ट मानेगा अपने को तो उत्कृष्ट कौन मानता है अज्ञानी मानता है अज्ञानी मानता है उत्कृष्ट तत्व का आरोप करता है भेद दर्शन करना पहले अज्ञान का कार्य उसे फिर अपने उत्कृष्ट दिखना देह में हम बुद्धि करके बड़ा मानना ये सब अहंकार श्रेय मार्ग में विघ्न करने वाले ये नीचे गिराने वाले इसको छोड़ना है साधो को इसको त्याग करना है इसको लेकर आगे चलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता है इसे विचार कर अपने में कितने घमंड अहंकार है उसको पूरा छोड़ना है अहंकार को पूरा छोड़ना है तभी तो गुरु के समीप में जा करके गुरु के अधीन रहते हैं माता पिता भाई बंधु को माता पिता को छोड़कर आगे रुला करके अगर कि महा किस महात्मा के पास रह करके पूरा समर्पित हो गए पूरा समर्पण के बिना प्राप्त नहीं होगा तब तो आज्ञा पालन करके रहना अहंकार को छोड़ना जो बड़े-बड़े सब है राजा महाराज भी अरण्य चले जाते थे ऐसे कोई साधु किसके पास जाकर पहुँचे वहाँ जाकर के सब काम करेंगे झाड़ू भी लगाओ और कपड़ा भी धो जो कहेंगे कहां सब सेवा करो जो बड़े-बड़े राजा महाराज भी सब जा करके वहां सब सब प्रकार सेवा करेंगे लकड़ी भी लाओ जो कुछ करना है सब कर से सब तब अहंकार घमंड खत्म होता है ये सब को खत्म करना यही है साधना इसीलिए साधन जितने हैं सब करना ही है जब जैसे शास्त्र से मिलता मिलता है सुनने में ऐसे होना ही है हमको ऐसे करना ही है नहीं कर पाते में तो अपने कमती है कब करना ऐसा सोच करके साधन युक्त होने पर ही प्राप्त कर सकता है और साधन के बिना प्राप्त नहीं कर सकता है तो शास्त्र का दोष नहीं आचार्य का दोष नहीं काल का दोष नहीं दूसरे का दोष नहीं अपने ही दोष अपने यदि साधन नहीं करेगा तो क्या क्या कर सकता है स्वयं नहीं करता तो सारा जीवन भर में माहेश्वर सूत्र क्या मालूम होगा नहीं पढ़ेगा तो माहेश्वर सूत्र क्या मालूम होगा माहेश्वर सूत्र क्या चीज है क्या माहेश्वर सूत्र महेश्वर का सूत्र क्या है माहेश्वर अस्त्र तो कोई सुना होगा पाशुपत अस्त्र किंतु माहेश्वर सूत्र क्या है पढ़ेगा तो जाने नहीं पढ़ेगा तो कितने उम्र में जान लेगा सारा जीवन भर में नहीं जान सकता है पढ़ने वाले को यदि कहेंगे अंतिम सूत्र से बोलो <laughs> कितने तो बोल सकते <laughs> कोई बोलेगा <laughs> पहले हाल बोलना है उसके बाद क्रम से अभी उनको अंत में बोलना है कौन बोलेगा कोई है बोलो और कोई है बोलने के लिए <laughs> ठीक करके बोलने के लिए ऊ करने का बोलना है कोई है और बोलने का बोल सकते कोई बोलो कप है <laughs> पहले पहले बार पहले कप होना था हाँ, हाँ। यस्तु अनम्यभूत उक्त साधन संपन्न न होती स कथम वेद इति संबंध यहाँ कहा सर्वहरपि मृत्यु रूपसेचन असनत्वेपि अपर्याप्तम असनत्वेपि अपर्याप्त इति अन्नत्वेपि असमर्थः शाक स्थानीय शाक सब्जी के स्थानीय हो गया असनत्व खाद्य के लिए भी समर्थ नहीं सामान्य स्वतः चटनी शाक थोड़ा जिसके था ना यत्र स्वे महिमनि स विश्व उपसंहर्ता वर्तते तथाभूतम तम को वेद को वेद यत्र स यत्र स आत्मा जहाँ आत्मा आत्मा कहाँ रहता है कौन जान सकता है वो आत्मा कहाँ है आत्मा कहाँ मतलब आत्मा ब्रह्मलोक में है या ब्रह्मलोक के ऊपर है कहाँ है ये नहीं स्वे महिमनि स्व महिमनि अपने स्वरूप में स्थित है किसी में नहीं है यत्र स कहेंगे आत्मा ऐसा लगे कहीं आत्मा कहीं दूर में कहीं बैठा है छिप करके ऐसा नहीं स्वस्वरूप में स्व स्वमहिमनी छांदोग्य में आया भूम विद्या में स्व महिम महिमनी स्वयमहिमनी स्वयमहिमनी मतलब अपने स्वरूप में क्योंकि अधिकरण सर्वत्र कोई पदार्थ है तो उसका आश्रय कोई होता है तो ब्रह्म है तो उसका कोई आश्रय होगा तो शिष्य पूछता कहाँ रहेगा कहते अपने स्वरूप में वस्तु तो वास्तव पूछे तो अथवा न महिमनी वो तो स्वयं से किसके ऊपर आश्रित नहीं है आश्रय आश्रय भाव संस्कार से जो पूछता है कह देते स्वयं नहीं अपने स्वरूप में अपने स्वरूप में अपने क्या रहेगा अपने स्वरूप में रहना ही कोई वास्तव नहीं है कैसे में आश्रित नहीं है अनाश्रित है तार्किक लोग सिखाते हैं आकाश कहीं आश्रित नहीं होता है सर्वव्यापक आकाश होने पर भी आकाश किसके ऊपर आश्रित नहीं है जो आश्रित होता है ये आश्रित है थोड़ा ऐसा करते गिर गया पतन हो गया पतन प्रतिबंधक संबंध है तो आश्रित होगा और इसके ऊपर आकाश है ना नहीं हाथ को इस करें तो आकाश टुकड़ा टुकड़ा होकर गिरेगा एक साथ गिरेगा बोलो गिरेगा इसलिए पतन प्रतिबंधक संयोग इसके हाथ में नहीं हाथ में आकाश आश्रित नहीं है ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वत्र आकाश होने पर भी इसके ऊपर आश्रित नहीं छात के ऊपर आश्रित है या नहीं छात के ऊपर भी नहीं है किसी में आश्रित नहीं है उसको समझे इसी प्रकार ब्रह्म भी किसी में आश्रित नहीं है यहाँ तो आकाश से बिना छात है पर्वत है समुद्र है सब पदार्थ है वास्तव ब्रह्म से बिना कुछ है ही नहीं किसी में आश्रित होने का स्वयं ब्रह्म सारे पदार्थ ब्रह्म में अध्यस्त है आश्रित है कोई ब्रह्म का आश्रय नहीं इसलिए स्वयं ही स्वस्वरूप में स्थित है कोई उसका आश्रय नहीं सब विश्व उपसंहरता सारे सब का उपसंहार करने वाले सबका अधिष्ठान है जहाँ है जिस रूप से है तथाभूतम तम को वेद कौन जान सकता है साधने के बिना साधने के बिना कोई नहीं जान सकता है उसको ज्ञान प्राप्त करना है तो अवश्य ही साधन संपन्न होना चाहिए ये इति द्वितीय वल्ली समाप्त हो गई और तृतीय वल्ली में ऋतम पिबंता वित्तस्य वल्या संबंध आगे ऋतम पिबंत तो मंत्र आएगा ये वल्ली का संबंध कहते हैं विद्या विद्ये नाना विरुद्ध फले इति उपन्यस्ते विद्या और अविद्या दोनों भिन्न है विरुद्ध फल वाले विरुद्ध फले यो भिन्न फल है विद्या का फल तो मोक्ष है अविद्या का फल संसार है इत तो उपनिषद कहे गए दूर में ते विपरीत विसूचि इत्यादि मंत्र में कहे गए न तो सफले ते यथावत निन्नते ते विद्या विद्ये सफले फले न सह फले के साथ यथावत उनका निर्णय नहीं किया गया दोनों भिन्न-भिन्न फल कह दिया दूर में ते विपरीत विसूचि अत्यंत विपरीत है भिन्न-भिन्न मार्ग वाले किंतु उसका क्या फल है इसके साथ उसका यथार्थ निर्णय ठीक नहीं किया गया अभी उसको निर्णय करने के लिए आरंभ करते हैं तन अर्थ रथ रूपक कल्पना निर्णय अर्थ निर्णय यम कल्पना निर्णय के लिए रथ रूपक कल्पना रथ रूप के रूपक बना करके उपदेश करेंगे टीका में रथ रूपक कल्पनेति प्रसिद्ध रथ सादृश्य कल्पना इत्यर्थ प्रसिद्ध रथ रथ के सादृश्य करके ये शरीर एक रथ है जैसे रथ में सारथी घोड़े रथ चलता है मार्ग में इसी प्रकार यहाँ रथ सादृश्य कल्पना करके उपदेश करेंगे भाष्य में तो निर्णय था रथ रूप का कल्पना तथा च प्रतिपति सौकर्यम ये रथ सादृश्य कल्पना करने से बता, कर, करके बताने से प्रतिपत्ति में सुकरता ये सरलता है प्रतिपति ज्ञान प्रतिपते सौकर्यम सुकर से भाव सौकर्यम सुकरता सरल सरल से ज्ञान होने के लिए रथ साध्य से कल्पना करके श्रुति उपदेश करती है श्रुति है मातृ से भी हित उपदेश करने वाली हितकारिणी किस प्रकार समझ में आ जाए श्रुति भगवती उपदेश करती है एवं च पात प्राप्ति प्राप्य गंत्री गंतव्य विवेकार्थम द्वावात्मान उपन्यस्येते वास्तव ब्रह्म अद्वितीय है निर्विशेष है किंतु अज्ञान अवस्था में भेद दिखता है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले समझने के लिए अविद्या को आश्रय करके ही भेद को आश्रय करके ही उपदेश किया जाएगा सर्प ब्रह्म हुआ रज्जु में भ्रांत तो कहता है सर्प है सर्प है सर्प है जो जान करके उसको उपदेश करते सर्प नहीं रज्जु है वो कहते रज्जु कहाँ है दिखाओ कहते सर्प रज्जु है देखो सर्प ही रज्जु है और सर्प कैसे रज्जु है सर्प तो अलग रज्जु अलग कहते वही रज्जु है सर्प भ्रांति से जो कल्पित सर्प उसको दिखा करके रज्जु का उपदेश करते और सामने दिखता नहीं हम जा करके दूर में बैठा है रज्जु का है वह सर्प ही रज्जु है जिसको तुम सर्प समझते हो वही रज्जु है तो सर्प जो भ्रांति सिद्ध वस्तु को ले करके रज्जु का उपदेश करना पड़ता है इसी प्रकार ये द्वैत प्रपंच भ्रांति सिद्ध है आरोपित द्वैत है उसको लेकर के ही ये फिर सब अध्यारोप अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते आरोप करके जो दिखता है उनका निषेध करके अधिष्ठान दिखाएंगे सर्प रज्जु का अर्थ सर्प नहीं किंतु रज्जु है सर्प का निषेध करके सर्प नहीं किंतु रज्जु है ऐसा कहने के लिए कहते सर्पो रज्जु सर्प ही रज्जु है अर्थात सर्प नहीं किंतु रज्जु इसी प्रकार सर्वम कलविदम ब्रह्म सर्वम ब्रह्म वासुदेव सर्वम वो सर्व नहीं किंतु ब्रह्म है भ्रांति सिद्ध वस्तु को ले करके उपदेश किया जाता है इसी प्रकार यहाँ रथ रूप सादृश्य कल्पना करते हैं मार्ग में चलता है तो कोई किसी को प्राप्त करेगा प्राप्य अलग प्राप्त करने वाला अलग है प्राप्ति प्राप्य प्राप्त्रिये प्राप्त करने वाला प्रप्र का आपले आप तो नूल त्रिच त्रिच करेंगे प्राप्ति और नियत करें तो रिहर में तो प्राप्य हो जाएगा और नूल करें तो प्रापक हो जाता है प्राप्त करने वाला प्राप्ति और प्राप्य होता है कर्म इसी प्रकार गम धातु से त्रिच करें तो गंत्री गंता अर्थ होगा चलने वाला गंतव्य प्राप्तव्य तव्य प्रत्यय हो गया कर्मणि एक कर्ता है कर्म लोक में कोई प्राप्त करने वाला एक प्राप्य वस्तु है एक चलता है जहाँ जाएगा उसको गंतव्य कहते हैं चैत्र ग्रामम गच्छति गंतता कौन है और गंतव्य कौन है ग्राम इसी प्रकार विवेक अर्थ विवेक करने के लिए द्वावात्माना उत्पन्न उपन्यस्यते दो आत्मानो दो आत्मा का उपन्यास करते कथन करते आत्मा दो नहीं किंतु भ्रांति से दो दिखता है अनेक दिखते उसको लेकर के कथन करते हैं मंत्र ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके सुकृतस्य ऋतम लोके पिबंतो गुहाम प्रविष्टो परमे पराधि ऋत का तो सत्य है यहाँ सुकृतस्य ऋतम पिबंतो सुकृत है पुण्य कर्म अपने स्वयं कृत कर्म पुण्य पाप कर्म जो स्वयं किया है उसका फल कर्म फलों को कहा ऋतम कर्म फलों को ऋत कहा कर्म सत्य इसलिए कर्म फल अवश्य भोगना पड़ता है कर्म किया तो अवश्य भावी फल कर्म फल भोगना पड़ेगा कभी जो कर्म किया है नाभूतम क्षेत्र कर्म जो कर्म नहीं किया है कल्प कोटि सतिरपि 100 कोटि कल्प हो जाए तो भोग के बिना क्षय नहीं होगा एक ज्ञान से तो क्षय हो सकता है नहीं तो कर्म तो रहेगा फल देगा छिपा कर कोई पाप कर्म कर लिया तो उसका फल भोगना पड़ेगा इसको पता नहीं चलेगा तो कौन देगा बोला पता चलने पर कोई दंड देगा छिपा कर क्या तो किसको पता नहीं चलेगा पता चलने की आवश्यकता नहीं अंतर्यामी आप स्वयं देखते हो अंतर्यामी देखते हैं और देखने की आवश्यकता नहीं अपने आप ही सर्वज्ञ परमात्मा है सब मालूम है छिपाएगा किसको सब कर्म आ जाएगा तो आपके नाम पर चढ़ जाएगा अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट रह जाएगा समय आने पर मिल जाएगा ब्याज के साथ अच्छी तरह से मिलेगा चिंता नहीं पुण्य हो पाप हो कुछ भी हो इसलिए कर्म फल को सत्य कहा अवश्य भावी होने से अन्य कोई हो अथवा नहीं किंतु कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा इसे रितम सत्य कह करके कर्म फल का उसको पान करते कर्म फल को पान करते क्या भोग करते पीते हैं तो भोग करते हैं अवश्य यद्यपि दो में से एक कर्म फल भोग करता है जीव ईश्वर कर्म फल भोग नहीं करता है तो भी ऐसे कहा जाता है कि छत्र न्याय है दो व्यक्ति चल रहे एक के पास छता है कहते ये दुख छता वाले दो जा रहे हैं छत्रिनो यान्ति छता वाले जा रहे हैं दस व्यक्ति जा रहे हैं कितने छता रहने पर छत्रिनो यान्ति शब्द प्रयोग करेंगे एक होने पर छत्रिण कहा जाएगा सौ के पास छत्ता रहेगा तो छत्रिण कहा जाएगा सौ के पास है तो कहा जाएगा एक दो छता हो तो कहा जाएगा एक छता हो तो देखो छता वाले जा रहे छत्रिण जानती ये इसी न्याय से एक कर्म फल भोग करता है दूसरा भोग नहीं करता है तो भी दोनों के लिए कहा रितम पिबंतो लोक में कर्म फल भोग करते हैं बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट है परमे परार्धे परम स्थान है परस्य अर्धम परार्धम पर ब्रह्म का स्थान है हृदय में हृदय ब्रह्म तो सर्वव्यापक है बुद्धि में उसकी उपलब्धि होने से उसका स्थान कहते वहाँ है बुद्धि रूप गुहा में स्थित है और दोनों विलक्षण है छाया तपो छाया और आतप के समान आतप सूर्य किरण छाया दोनों जिस प्रकार विरुद्ध है छाया कभी आतप आतप कोई छाया से नहीं विलक्षण जैसे ब्रह्मविदो बदंती ब्रह्म ज्ञान लोग कहते हैं पंचाग्नय ये च त्रिनाजिकेता पंचाग्नि उपासना करने वाले और जो तीन बार नचिकेत अग्नि किया ये भी कहते जानते हैं भाष्य में ऋतम सत्यम अवश्यम भावित्वात् कर्म फलम ऋत का तो सत्य है यहाँ ऋत शब्द से कर्म फल लेना क्योंकि कर्म फल अवश्य भावी है सत्य जो होता है अवश्यम भवति ते सत्यम सर्वत्र सर्वदा है इसलिए कर्म फल भी अवश्य भोगना पड़ता है इसको भी सत्य कहा ऋतम कर्मफलम पिबंतो पान करने वाले एक तत्र फलम पिबति जीव पिबति का तो भुंगते भोग करता है नेतर इतर न इतर ईश्वर कर्म फल भोग नहीं करता है तो पिबंतो दो वचन दोनों पीते दोनों कर्म फल भोगते हैं कैसे बनेगा तथा भी पात्र संबंधात पिबंता वितुच्यते छत्र न्याय न पात्री पान करने वाला जीव भोगने वाला उसके संबंध से द्विवचन का उसके साथ पिबंतो ऐसे कहा गया दोनों एक से कर्मफल भोगने वाला है उसके साथ रहने पर दोनों को कर्मफल भोगने वाले एक हाथ छाता है तो दो चल रहे कहते देखो दो जा रहे छते वाले ऐसे कहा जाता है उसको छत्र न्याय कहते छत्रणो यात दो छतिवार वाले वाले जा रहे एक छता है दूसरे के पास छता नहीं तो भी दो जा रहे थे देखो छता वाले जा रहे छत्रणो यात अथवा माने को तो छत्रणो यान्ति इसी छत्र न्याय से दोनों को कर्म फल भोगते हैं पिबंतो कह दिया वस्तु तो दोनों पीते भोगते नहीं है ऋतपान करता जीव ऋतय कर्म फल हुआ सत्य है कर्मफल अवश्य में भी उसको पान करता भोगने वाला जीव स्थावत एक चेतन सिद्ध कर्मफल भोगने वाला जीव चेतन सिद्ध हुआ और दूसरा कौन है द्विवचन दिया पिबंतो दो प्रविष्टो दो द्विवचन थे दो एक तो जीव और दूसरा कौन होगा एक के नाम लेकर जो दूसरा करेंगे एक किसके पास बैल है दूसरे ले आओ दूसरे क्या लाएंगे पत्थर लाएंगे या पानी लाएंगे गड़ा में पत्थर दूसरा कहेंगे दूसरा बैल आओ खेती करने के लिए एक बैल है दूसरा ले आओ अथवा एक कुछ वस्तु लाए तो दूसरा ले आओ तो जो लाया उसके सजाते ही दूसरा लाते हैं नहीं तो दूसरा तो बहुत कुछ मिल जाएंगे उससे भिन्न ये संग द्वितीय अन्वेषणायाम लोके संख्या श्रवणे समान स्वभाव प्रथम प्रतिपति प्रतिति दर्शनात् द्वितीय के अन्वेषण जो करेंगे दूसरा लाओ दूसरा क्या लाएंगे एक व्यक्ति है दूसरे ले आओ कुछ काम करने के लिए भोजन बनाने के लिए एक आया दूसरे ले आओ तो दूसरे लाएंगे तो दूसरे व्यक्ति लाओ एक ब्राह्मण है तो कह दूसरे ले आओ तो दूसरा पत्थर है ना नहीं ब्राह्मण से भिन्न पत्थर नहीं है भेड़ भी है कचर भी है दूसरा कहेंगे तो सजातीय ब्राह्मण लाओ द्वितीय अन्वेषण लोके संख्या श्रवणे संख्या सुनते ही समान स्वभावे प्रथम प्रतीति समान सभा में पहले ज्ञान होता है समान सभा एक ब्राह्मण दूसरा तो ब्राह्मण तो एक है तो दूसरा ब्राह्मण पहले ज्ञान होगा हां यदि ब्राह्मण नहीं मिलता है फिर दूसरे आदमी ले आओ इसे समान सभा में पहले प्रतिति ज्ञान हो, होता है उसके बाद यदि समान सभा वाले दूसरा संभव नहीं है तो फिर अन्य सोचेंगे ये पहले ज्ञान होता है इसलिए यहाँ एक चेतन जीव है और दूसरा कौन हो सकता है जड़ होगा दूसरा चेतन होगा चेतनतया समान स्वभाव परमात्मैव द्वितीय प्रतीयते चेतनत्वन समान स्वभाव जीव का हो गया परमात्मा ही द्वितीय प्रतीत होता है यहाँ द्वितीय कोई पारमार्थिक दो है नहीं किंतु व्यवहार में द्वितीय जैसे प्रसिद्ध है उसको लेकर के द्वितीय परमात्मा तस्य च उपचाराद ऋतपात्रित्वम इत्यर्थ परमात्मा कर्म फल भोगता नहीं है कर्म के साथ संबंध नहीं तस्य च उपचाराद गौण प्रयोग है ऋतपात्रितम पान करते तो कर्म फल भोगने का जो कहा गया गौण प्रयोग है वस्तुतः कर्म फल भोगता नहीं परमात्मा का कर्म ही नहीं कर्म के साथ संबंध नहीं कर्म फल भोक्तृत्व नहीं है तो भी इसे गौण प्रयोग किया जाता है जैसे छत्र न्याय ना क्षत्रिणो यात क्षत्रिय वाले जात रहे दो इसी पर गौण प्रयोग उपचारात ऋत पात्रित कर्म फल भोक्तृत्व पात्रित्वम पात्रित्वम त्वा नहीं पात्रित्वम इत्यर्थ भाष्य में सुकृतस्य स्वयं कृतस्य कर्मण ऋतम इति पूर्वेण संबंध ऋतम पिबंतव सुकृतस्य सुकृतस्य ऋतम सुकृतस्य का षष्ठी अंत का संबंध में षष्ठी है के संबंधी सुकृतस्य ऋतम पूर्व के साथ संबंध सुकृत कौन होता है शोभन कृतम सुकृतम शोभन कृत कौन होता है अपने जैसे करते दूसरे से नहीं करता है तो उसमें संतोष नहीं होता है स्वयं अपने करने पर शोभन होता है इसलिए अपने जो क्या हुई सुकृत है अपने जो वजन बनाया बहुत अच्छा लग गया दूसरे बनाए तो थोड़ा नमक कम हो गया ज़्यादा हो गया मिर्च हो और अपने बनाओ तो अब हाँ निंदा करेंगे <laughs> बहुत अच्छा है जो स्वयं करना है वो सुकृत होता है इसलिए सुकृत का अर्थ क्या स्वयं कृत से कर्मणा स्वयं अपने करने पर सुख कुछ होता है स्वयं कृत से अपने ही क्या है जो अपने कर्म क्या उसको भोगेगा कौन स्वयं को करेगा क्या है तो स्वयं भोग करना और उसका अधिकार दूसरे दूसरे का अधिकार उसमें है ही नहीं जितने पुण्य पाप लेकर आए उसको भोगेगा कौन भोगेगा जो लेकर आए भोगेगा दुख मिलता है तो क्या इसका कारण क्या है अपने पाप पाप कर्म लेकर आया क्योंकि अपने किया है स्वयं किया है अपने उसको आपको भोगना पड़ेगा दूसरे को दोष देना नहीं चाहिए दुख मिलते समय अपने पाप को विस्मरण नहीं करके पहले दूसरे को दोष दे सारा संसार देखते हैं किसने हमको ऐसे कष्ट दिया कौन कष्ट देगा अपने पाप ही पहले इसलिए दुख मिलते समय सुख मिलते समय पहले स्मरण करें मेरा ही पुण्य पाप है पाप दुख मिलता है तो पहले अपने पाप और साधारण कारण दुख का लक्षण है अधर्म मात्र साधारण कारण गुण अधर्म में असाधारण कारण साधारण कारण तो बहुत हो जाएगा साधारण कारण सब के लिए है जैसे घट बनाने के लिए पट बनाने के लिए ईश्वर इच्छा अदृष्ट देश काल ये तो सब के लिए कारण किंतु असाधारण कारण होता है पेड़ इस पेड़ किस में मीठा है किस में खट्टा है बीज होता है कारण इसी प्रकार अधर्म में असाधारण कारण दुख का धर्म है सुख का असाधारण कारण ये जो कर्म है अपने भोगना पड़ता है पुण्य पाप कर्म फल समय में लाया दुख मिलते समय पहले समझे ये मेरा पाप कर्म का फल मैंने पाप कर्म किया था फल भोग रहा हूँ तो खुश होकर भोग कर लो अपने कर्म किया था तो कौन भोग करेगा और सुख मिलता है तो न प्रहसित प्रियम प्राप्य तुम्हारे क्या हुआ पुण्य कर्म फल दे रहा है और सुख मिलता है तो पुण्य जा रहा है पुण्य खत्म हो रहा है खुश क्या हो रहे हो अपने हाथ से पुण्य जा रहा है ये थोड़ा विचार करे तो कर्मफल भोगना ही है सुकृत स्वयं कृत से कर्म न ऋतम इति पूर्वेण संबंध लोके लोक लोक्यते भृज्यते अस्मिन् जिसमें भोग साधन शरीर में लोके क्या था शरीरे इस शरीर में ही भोगायतनम शरीरम भोग का आश्रय होता है भोग शरीर में होता है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग कहते हैं सुख अनुभव दुख अनुभव भोगे कर्म के कारण सुख दुख भोगना पड़ता है सुख दुख भोगने के लिए शरीर मिला शरीर जन्म प्राप्त हुआ किसके लिए सुख दुख भोगना ही है उसके साथ साथ यदि सबको कोई सत्कर्म करे तो सुख दुख भोगना पड़ेगा और पाप कर्म करेगा तो सुख दुख होना पड़ेगा सुख दुख भोगना ही है उसमें है बुद्धिमता सुख दुख तो भोगना ही है कुछ भी करे तो उसमें सत्कर्म करे पाप कर्म नहीं करे पाप कर्म करेगा तो और दुख भोगेगा और सत्कर्म करेगा तो आगे सन्मार्ग में चलेगा यही सुख दुख भोगते हुए समान सुख दुख भोगना होगा कोई रोता है दूसरे को गाली देता है दूसरे को थापड़ लगाता है दूसरे को धक्का देकर गिराता है कुछ भी करे अपने जो कर्म करेगा वो कर्म फिर नया कर्म करेगा भोगना समान है इसलिए भोग लेना चाहिए सुख दुख भोगना ही पड़ता है यह हो गया ऋतमिति पूर्व लोके अस्मिन् शरीर भोगायतनम शरीरम शरीर में भोग होता है सुख दुख भोगने के लिए शरीर मिला जितने प्रार्थ तब तक भोगना पड़ेगा प्रार्थ समाप्त होने पर शरीर किसी का नहीं रहा नहीं रहेगा ऋतम पिबंतम सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो गुहायाम बुद्धो प्रविष्ट बुद्धि को ही गुहा रूप से कहा गुहा जैसे अंदर गुहा है उससे छोटा उसमें छिप कर है इसी प्रकार यहाँ बुद्धि रूप गुहा उसके अंदर ही प्रविष्ट है प्रविष्ट वस्तु तो प्रवेश कुछ नहीं प्रवेश श्रुति में कहा गया तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत सृष्टि करके प्रविष्ट हो गया प्रविष्ट जो यहाँ दिखते हैं सब स्त्री में सभाग्रह में प्रविष्ट है तब दिखते हैं परब्रह्म को बुद्धि में प्रविष्ट कहा गया क्योंकि परब्रह्म वहां उपलब्ध होता है बुद्धि में उपलब्ध होता है इसलिए प्रविष्ट कहा प्रविष्ट वस्तु तो नहीं जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है क्या देखो जल में चंद्र है प्रविष्ट है प्रविष्ट नहीं प्रविष्ट प्रविष्टवद उपलब्धते सर्वव्यापक होने से सर्वत्र है बुद्धि में भी है और बुद्धि में विशेष इसलिए कहा गया उसकी उपलब्धि होती है परमे परार्धे परमे बाह्य पुरुष आकाश संस्थान अपेक्षा परमम परमे बाह्य पुरुष आकाश संस्थान पुरुष आकाश संस्थान बाह्य के अपेक्षा ये परम का टीका में दिया बाह्य पुरुष आकाश संस्थानम देहाश्रय आकाश प्रदेश बाह्य पुरुष आकाश बाह्य जो पुरुष आकाश वो संस्थान देहाश्रय आकाश प्रदेश देह बाह्य पुरुषाकाश तत्संतानम बाह्य पुरुष अथवा बाह्य पुरुष देह टिप्पणी दिया उसका आश्रयभूत आकाश देह जिस आकाश में बाह्य पुरुषाकाश वह आकाश स्थानम देह का आश्रय जो आकाश उसकी अपेक्षा पर है ब्रह्म का स्थान परस्य ब्रह्मण अर्धम पर है ब्रह्म उसका अर्धम का स्थानम परार्धम पर ब्रह्म का स्थान उनसे टीका में दिया बाह्य पुरुष आकाश संस्थानम देहाश्रय आकाश प्रदेश देह का आश्रय जो आकाश है उसको कहा बाह्य पुरुष आकाश का आश्रय है आकाश उसकी अपेक्षा परम आकाश है ब्रह्म का स्थान कहा बुद्धि रूप गुआ को तस्मिन ही परम ब्रह्म उपलभ्यते ये कहते अस्मात् क्योंकि उसी बुद्धि रूप स्थान में ब्रह्म का स्थान कहा उसमें ब्रह्म उपलब्ध होता है इसे ब्रह्म का स्थान कहते हैं ब्रह्मपुरम भी कह देते ब्रह्मपु अत तस्मिन परमे परार्धे प्रवेशा भी वित्यर्थ परम पराध हृदय हृदय में स्थित हार्दाकाश में बुद्धि में प्रविष्ट है इत्यर्थ तौ च छाया तपा विव विलक्षण संसारित्वा संसारित्वेन ब्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति दोनों विलक्षण है एक छाया और एक आतप छाया तपो इव छाया आतप के समान छाया और आतप सूर्य किरण है पेड़ की छाया दोनों छाया आतप के समान विलक्षण है संसारी तो न एक है संसारी जीव ईश्वर है असंसारी दोनों विलक्षण है इसे विदो वदन्ति ब्रह्म ज्ञान लोग कहते हैं कथयन्ति केवल ब्रह्मविद नहीं न केवलम अकर्मणैव वदन्ति अकर्मी है ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान हो गया तो उनका कर्म होता ही नहीं देहादि का कर्म अकर्म हो जाता है कर्माभास अकर्मी वस्तु तो ज्ञानी अकर्मी बाह्य कर्म छोड़ दे करके अकर्मी नहीं होता इतने मात्र से ज्ञान हो गया तो कर्म के साथ संबंध नहीं ज्ञानी अपने को निष्क्रिय ब्रह्म मानता है जिसमें क्रिया होती ही नहीं अज्ञान में देहादि के कर्म को आत्मा में आरोप करता है तो अकर्मी वही होता है ब्रह्मविद न केवलम अकर्मिण एव ब्रह्मज्ञानी जो अकर्मी निष्कर्म वही कहते इतने नहीं है पंचाग्नयो पंचाग्नि करने वाले गृहत्वी पंचाग्नय गृहता है गृहत होगा पंचाग्नय अब ये च त्रिनाचिकेता त्रिकृत्व नाचित के तो अग्निश्चित हो यही ते त्रिनाचिकेता नाचिकेता अग्नि का उपदेश किया था यमराज ने नचिकेता को और उसके नाम पर तवेव नामा भवती अग्नि तुम्हारा नाम हो जाएगा यमराज ने कहा था तो नाचिकेत अग्नि उसका चयन अग्नि कर्म उपासना जिसने तीन बार किया वो त्रिनाचिकेता ते वो भी कहते हैं पंचाग्नि करने वाले गृहस्थ भी कहते हैं कि ब्रह्म कहते विलक्षण दोनों है ईश्वर जीव दोनों विलक्षण है पंचाग्नि का अर्थ क्या टीका में गारहपत्यो दक्षिणाग्नि आहवन्य सव्य आवसत्यश्चैति एते पञ्चाग्नयो येषाम ते ततोता पंच अग्नयो येषाम ते पञ्चाग्नयः पञ्चाग्नय एक पद विग्रह में टीका में पंच अग्नयो येषाम ते पंचाग्नय पांच अग्नि कौन है गारपत्य दक्षिणाग्नि आहवन्य सभ्य आवश्यक ये पांच है गृहपति संबंधात गारपत्य अग्निहोत्र करता है गारपत्य अग्नि रहता है उसे ले करके आहवनीय अग्नि उसमें आहवनीय ज्योति गारपत्य अग्नि से अग्नि ले करके आगे हवन करते उसको होता आहवनीय और एक दक्षिणाग्नि कहते हैं और एक कर्म करते समय पश्चा अंत होता आवसत्य और एक सभ्य ये कर्म करते समय पांच प्रकार अग्नि ऐसा पांच अग्नि जैसा अर्थात ऐसे अग्नि साध्य कर्म जो करते हैं उपासना भी करते हैं और एक पंचाग्नि आया अनग्नि में अग्नि चिंतन करना केवल उपासना है पहले तो कर्म हो गया और यहाँ के द्यु पर्जन्य पृथ्वी पुरुषयुषित्सु अग्नि दृष्टिम ये कुर्वन् कुर्वते असौ लाख असौ लोक गौतम अग्नि पांच अग्नि में से पंचम आहुत होता है आप पुरुष वचस स्वभावंती पंचम आहुति में जल पुरुष संज्ञक गर्भ हो जाता है पहले द्युलोक को कहा है कि अग्नि स्वर्ग अग्नि नहीं है किंतु अग्नि से ही कहा उसके बाद पर्जन्य मेघ वृष्टि उपकरण देवता पर्जन्य पृथ्वी तृतीय अग्नि चतुर्थ अग्नि पुरुष पंचम अग्नि योषित स्त्री पांच अग्नि है कोई इसमें अग्नि नहीं है अग्नि से भिन्न अनग्नि अनग्नि में अग्नित्व दृश्य अग्नि बुद्धि करनी है यशिशु अग्नि दृष्टि में ये कुरुवते अनग्नि में अग्नि दृष्टि करते हैं इसको कहते अध्यास अनग्नि में अग्नि बुद्धि अतस्मिन तद बुद्धि है किंतु अग्नि दृष्टि करके उपासना करना है तो ऐसे उपासना का आकाश ब्रह्म इति आदेश आकाश में ब्रह्म दृष्टि करे मन ब्रह्म इति उपासित मन में ब्रह्म बुद्धि कर उपासना करे इसी प्रकार पांच अग्नि भिन्न अनग्नि में अग्नि बुद्धि करके जो करते हैं अग्निहोत्र आदि न अग्निहोत्र आदि कर्म करते समय करते और अनग्नि में अग्नि चिंतन करते तेवा पंचाग्नि पंचाग्नि क्या था गार्हपत्य दक्षिणाग्नि आदि कर्म करने वाले के पांच अग्नि वाले उनको भी पंचाग्नि कह सकते हैं और अग्निहोत्र आदि कर्म करते समय दीप उपार्जन आदि अनग्नि में अग्नि बुद्धि करके उपासना करते हैं वो भी पंचाग्नि है तो इसे पंचाग्नि वदंती कहते हैं वो भी कर्म करने वाले अंतकोण शुद्ध होता है पंचाग्नि करने से और त्रिनाचिकेता तीन बार नचिकेता अग्नि का चयन किया वो भी कहते हैं पंचाग्नि च त्रिनाचिकेता ये करता है उसके क्रिया है वदंती किम वदन्ति छाया तपो छाया आतप के समान दोनों विरुद्ध है विलक्षण है दोनों बुद्धि में स्थित है गुहाम प्रविष्ट बुद्धि रूप में बुद्धि रूप में जीवत है और परमात्मा भी अंतर्यामी रूप से वहां है दोनों भेद प्रतीत होता अज्ञान अवस्था में वही दोनों को समझने के लिए अपन से विलक्षण चिदाभास होता है जीव का वाच्यार्थ लक्ष्य होता है बिंब रूप चेतन ये दोनों जो होता है दोनों बिंब प्रतिबिंब के समान भिन्न है बुद्धि में बुद्धि का अधिष्ठान चैतन्य शुद्ध चैतन्य है और बुद्धि में उसका प्रतिबिंब दिखता है जब प्रतिबिंब चिदाभास दिखता है वही दिखता है बिंब रूप चेतन नहीं दिखता है घड़ा में जल भरने के बाद जो आकाश रहता वास्तव वो नहीं दिखता है जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है तो उसको हम कहते हैं आकाश वास्तव आकाश वहां होने पर भी नहीं दिखता है और जब समझ आते हैं आकाश घड़े में पहले था जब खाली था उसे पानी भरने के बाद भी आकाश रहा वो वास्तव आकाश वहां है और एक प्रतिमा आकाश दिखता है दो आकाश दो आकाश को पहले समझा करके फिर दोनों आकाश समझने के बाद उसे वास्तव कौन है और कल्पित कौन समझ में आ जाएगा घटा आकाश जल आकाश घट में जो आकाश रहता है जल जितने भर गया वहां भी आकाश है जल भरने पर भी आकाश रहता है वह घट आकाश है आकाश नित्य है व्यापक है तो घड़ा रखने पर घट की उत्पत्ति हुई तो कहते घटाकाश घट को नष्ट कर दें तो घटाकाश रहेगा आकाश तो रहेगा किंतु घटाकाश नहीं कहेंगे तो घट आकाश नष्ट हो गया तो घट रूप उपाधि की उत्पत्ति नाश से आकाश में उत्पत्ति नाश व्यवहार होता है वह घटाकाश घट में जल भरेंगे तो जल में जो प्रतिबिंब दिखता है उसको कहते जलाकाश तो घटाकाश और जलाकाश में जैसे भेद है भेद वास्तव नहीं प्रतिबिंब बिंब में जैसे भेद कल्पित है भेद वास्तव नहीं है इसी प्रकार बुद्धि में बिंब प्रतिबिंब रूप से दोनों है बिंब रूप से कौन है ईश्वर और प्रतिम रूप से जीव है ईश्वर को बिंब रूप जीव को प्रतिम रूप ऐसे भी कहा और कहीं-कहीं प्रक्रिया में शुद्ध चेतन बिंब है और प्रतिबिंब जीव भी है ईश्वर भी है शुद्ध चेतन बिंब होने से प्रतिबिंब यहाँ जो ईश्वर को लेंगे और बिंब स्थानीय ईश्वर शब्द का आते लेना जिस मत में ईश्वर भी प्रतिबिंब है तो वहाँ ईश्वर सत्य का लक्ष्यार्थ लेना कुटस्थ चैतन्य भी है और एक जीव है दोनों वहाँ है दो वहाँ है अभी उसको समझ करके दोनों को समझ करके अपने से विलक्षण परमात्मा हृदय में है उसको जानना है और जानना किस प्रकार दोनों तो प्रतीत होते दो उपाधि के कारण उपाधि न तो एक ही तत्व है जिसको भगवान ने गीता में कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु सारे शरीर में एक ही क्षेत्रज्ञ है जो क्षेत्रज्ञ बुद्धि का साक्षी है शरीर इंद्रिय जितने सब भूत भौतिक प्रपंच सब को क्षेत्र कह करके एतद व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद ये शरीर हो गया क्षेत्र महाभूतानि अहंकार बुद्धिर व्यक्तमेव च कह करके इंद्रियाणि दसैकंज पंचच इंद्रिय गोचरा ये सब जितने भूत भौतिक प्रपंच सब क्षेत्र है और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ वही परमात्मा है दो रूप से कहा कहेंगे एक एक क्षेत्रज्ञ जीव एक एक परमात्मा वस्तु तो दो कह करके अंत में एक समझना है उपाधि के कारण दो लगते हैं बिंब प्रतिमा जैसे है तो ये इतने यहाँ से कहा गया वो ब्रह्म स्वरूप अभी यहाँ बताने के लिए आगे रथ रूप कल्पना करेंगे परमात्मा जो ब्रह्म है ज्ञेय उसका स्वरूप निरूपण करने के लिए अभी तृतीय वल्ली प्रारंभ हुआ इसमें ये दोनों बुद्धि में स्थित है ये बताया इसके ऊपर आगे शंका है ननु न संति ब्रह्मविद बहुत लोग कहते हैं आजकल कौन ज्ञानी है खुद कौन ज्ञानी है लाओ हमारे सामने लाओ कोई लेकर आओ लेकर आ सकते कर कोई कोई कहते हैं कौन है कोई साधु अपने को कहते मर्मविद गुरु नहीं करना चाहिए क्यों कौन है गुरु होने के लिए बताओ लाओ मेरे पास कौन आएगा <laughs> कौन को ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया वो हाथ उठाकर कहेगा कि मुझे हम हमको हो गया ब्रह्म ज्ञान कौन कहेगा ओ सबको क्षमा ये कलयुग में से असात्र उपदेश करने वाले बड़े प्रसिद्ध हो जाएंगे लोग मानेंगे बड़े-बड़े लोग मानने से सब लोग भरेंगे इतने लोग मानते हैं इतने बड़े-बड़े पुस्तक लिखते तो कितने विद्वान होंगे लोग ऐसे समझते हैं क्या करेंगे ये कलयुग का गया योग का ऐसे प्रभाव है वो कहें गुरु करने की आवश्यकता नहीं किसने गुरु किया कहे छोड़ देना है अरे बहुत लोग उनको गुरु मानते हैं कहे वो तो ठीक है हमको कोई गुरु मानता है तो कोई आपत्ति नहीं बहुत लोग उनको गुरु मानते हैं बड़े कहते हैं हमको हम उनको गुरु मानते हैं वो कहते गुरु नहीं करना अब बहुत लोग दूसरे को जो गुरु मानते वो भी मानते कहने पर कौन छोड़ देता है वो कहते गुरु की आवश्यकता नहीं ऐसे ही खंडन करने वाले कहते ब्रह्म ज्ञान आजकल कहाँ है कोई नहीं कि आजकल संत कोई ही नहीं कहते आजकल संत है ही नहीं कोई अब आप वो केवल एक ही एक स्वामी जी है और दूसरे कोई है ही नहीं ऐसे कहने पर न संति ब्रह्मविद ये इसी समय कलयुग में हमेशा ही से है ज्ञानी होने पर भी कौन हो कह के कोई नहीं है पहले भगवान अवतार लेकर आए कहे तो कोई भगवान नहीं भगवान श्री कृष्ण कोई भगवान क्या भगवान सब लोगों ने इसे कहने लगा भगवान भगवान भगवान कह तो उसका भगवान <laughs> वो कहाँ भगवान है <laughs> ये दुर्योधन आदि कह रहे भगवान क्या है ऐसे लोग मानने लगे सब कहने लगे भगवान भगवान क्या है कोई भगवान ना कुछ ही नहीं इसी प्रकार के तो न संति ब्रह्मविद क्यों नहीं है सांप्रतम अनुपलम्बाद गांधी किता है देखो कहाँ दिखता है ब्रह्मज्ञानी बोलो ढूंढ कर देखा कहाँ दिखता है क्या दिखेगा ब्रह्म ज्ञान होने पर कोई सिंह निकलेगा क्या दिखेगा कैसे तो कहते न संति ब्रह्मविद अब पंचाग्नि विदश्च पंचाग्नि उपासना करने वाली कोई नहीं ये कर्म करने वाले कोई नहीं तो कह सकते ब्रह्म ज्ञान है नहीं कैसे कहोगे क्यों नहीं है सांप्रतम अनुपलम्बात गीता संख्या कि अभी नहीं दिखते हैं इसलिए नहीं है नहीं दिखते हैं नहीं कहने से क्या होगा अनुपलम दी अनुपलम्ब प्रमाण से अभाव सिद्ध हो जाएगा नास्ति घटो अनुपलब्धे यहाँ घड़ा है ना नहीं बताओ क्यों कैसे पता चला दिखता नहीं अनुपलब्धि तार्कियों को तो हमको अभाव का प्रत्यक्ष होता है घट अभाव प्रत्यक्ष देखते हैं अरे मीमांसा करे बौद्ध लोग के नास्ति घट अनुपलब्धे अनुमान करेंगे यहाँ घट नहीं क्यों दिखता नहीं यहाँ पिशाच खड़ा है नहीं बताओ पिशाच कैसे पता दिखता नहीं से नहीं दिखता नहीं तो घर बंद कर क्यों डरते हो <laughs> घर बंद करके दरवाजे बंद करके सोए थोड़ा कुछ आवाज हुआ कुछ शब्द मनुष्य शब्द सुना डरेंगे भागेंगे <laughs> क्या दिखता तो नहीं है किंतु भय नहीं होता है पिशाच रहने पर भी दिखेगा नहीं इसलिए नहीं दिखता है इसलिए नहीं है वायु दिखता है नहीं बताओ यहाँ वायु दिखता है किसको तो वायु है नहीं तो नहीं दिखता है तो नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं सांप्रतम अनुपदेश अभाव निश्चय करने के लिए शास्त्र संस्कार चाहिए कैसे निश्चय होगा अभाव करके योग्य अनुपलब्धि से अभाव का निश्चय होता है खाली अनुपलब्धि नहीं योग्य अनुपलब्धि उसको समझने के लिए तर्क आदि थोड़ा पढ़ना पड़ता है अभाव कैसे निश्चय होगा नहीं जानने वाले इसे कहेंगे कहाँ है कोई कहा परमाणु कहाँ है किसने देखा है देखने वाले देखते यंत्र से देखते हैं खाली बैठ बैठ कर नहीं है अंधा भी क्या सूर्य है नहीं अंधा कहेगा सूर्य है करके क्या सूर्य किसी ने लोग भ्रांत है सब कहते सूर्य सूर्य कहाँ सूर्य है सब बराबर है बिल्कुल अंधकार ही अंधकार है और अंधकार प्रकाश का भेद अंध को अंध को पता है क्या इसी प्रकार कहने वाले शंका करेंगे आगे ओम सहना